पहला प्रश्न भगवान सत्य लक्ष्य स्तब्सा हैश आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्य नित्यम अहंता शरीर ज्योतिर्मय ही शुभ्र यम पश्यन्ति क्षीण दोष यह आत्मा सत्य तप सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त किया जा सकता है जिससे दोष हीन नियति देखते हैं वह शुभ्र आत्मा इसी शरीर के अंदर वर्तमान है भगवान मुंडकोपनिषद के सूत्र को हमारे लिए बौद्धखम बनाने की कृपा करें शरणानंद यह सूत्र तो सरल है पर हजारों वर्षों की व्याख्याओं ने इसे बहुत जटिल कर दिया है ना समझ सुलझाने चलते हैं तो और उलझा देते हैं नीम हकीम से सावधान रहना जरूरी है बीमारी इतनी खतरनाक नहीं जितना नीम हकीम खतरनाक सिद्ध हो सकता है बीमारी का तो इलाज है लेकिन नीम हकीम के चक्कर में पड़ जाओ तो इलाज नहीं और नीम हकीमों से दुनिया भरी हुई एक आदमी को सर्दी जुकाम था बहुत दिनों से था और बार बार लौट आता था बड़े बड़े चिकित्सकों के पास गया कोई इलाज न कर पाया फिर एक नीम हकीम मिल गया उसने कही ये भी कोई बड़ी बात है ये तो बाएं हाथ का खेल चुटकी बजाते दूर कर दूंगा इतना करो सर्दी की रातें हैं आधी रात में उठो झील पर जाकर नग्न स्नान करो झील के किनारे खड़े होकर ठंडी हवा का सेवन करो वो आदमी बोला आप होश में हैं या पागल सर्द रातें हैं बर्फीली हवाएं आधी रात को नंग धड़ंग झील में स्नान करके खड़ा होऊंगा हड्डी हड्डी बच जाएगी इससे मेरा सर्दी जुकाम दूर होगा नीम हकीम ने कहा ये मैंने कब कहा कि इससे सर्दी जुकाम दूर होगा इससे तुम्हें डबल निमोनिया हो जाए और डबल निमोनिया का इलाज मुझे मालूम फिर मैं निपट लूंगा इस दुनिया में जीवन जटिल न होता अगर जीवन के व्याख्या तार तुम्हें न मिल गए होते उन्होंने सर्दी जुकाम को डबल निमोनिया में बदल दिया है ये सूत्र बिल्कुल सीधा साफ है लेकिन जब तुम इस सूत्र को पढ़ोगे तो तुम सूत्र नहीं पढ़ रहे हो सूत्रों के सुंदर शब्द आच्छादित हो गए हैं न मालूम कितनी व्याख्याओं से जिससे जब तुम पढ़ोगे सत्य क्या समझोगे पढ़ोगे तब क्या समझोगे पढ़ोगे सम्यक ज्ञान क्या समझोगे पढ़ोगे ब्रह्मचरी क्या समझोगे शब्द तो बहुत दूर खो गए हैं जंगलों में व्याख्याओं की तुम्हारे हाथ में व्याख्याएं रह गई सत्य शब्द तुम्हें याद दिलाएगा शास्त्रों की और शास्त्रों में सत्य नहीं क्योंकि शब्दों में ही सत्य नहीं सत्य है शून्य में और तुमसे सदा कहा गया है कि सत्य बोलो तुम्हारे भीतर सत्य में और बोलने में एक संयोग बन गया है सत्य बोला नहीं जाता जिया जाता है अनुभव किया जाता है यद्यपि जिसने सत्य का अनुभव किया उसके आचरण में उसके उठने बैठने में उसके हलन चलन में उसकी हर गतिविधि में सत्य की आभा होती उसके शब्दों में भी शब्द की प्रतिध्वनि होती सत्य नहीं प्रतिध्वनि और उस प्रतिध्वनि को वही समझ पाएगा जिसने अपने भीतर का सत्य जाना हो गीता जिन्हें कंठस्थ है कि रामायण की चौपाइया याद किए बैठे हैं कि बाइबल या कुरान या धर्मपद सिर पर ढो रहे इनसे तो सत्य बहुत दूर हो गया सत्य तो तुम्हारे जीवन का सार है सत्य बाहर नहीं भीतर है वेदों में नहीं है पुराणों में नहीं तुम्हारी चेतना की सुगंध है सत्य ध्यान में लेकिन जब भी तुम सत्य शब्द को सुनते हो तो तुम्हें लगता है शास्त्र याद आते हैं वेद कुरान बाइबल याद आते हैं बुद्ध महावीर कृष्ण क्राइस्ट मोहम्मद सत्य शब्द सुन के कभी तुम्हें अपनी याद आती आनी वही चाहिए न बुद्ध से सत्य मिलेगा न कृष्ण से सत्य मिलेगा तो अपने स्मरण से मगर व्याख्याओं का घनघोर जंगल है कितनी सदियां बीत गई हैं तुम्हें संस्कारित होते होते कि अब सीधी साधी बात भी बोध में नहीं आती विकृत हो जाती खंडित हो जाती टूट फूट जाती कुछ की कुछ हो जाती सत्य है ध्यान की शून्य की निर्विचार की अनुभूति उस अनुभूति में न विचार होते न कल्पना होती न तुम होते हो क्योंकि तुम स्वयं भी एक कल्पना हो एक विचार हो अहंकार विचार की एक तरंग मात्र है एक लहर जहां सारी लहरें खो गई वहां अहंकार भी खो गया सत्य है निरअहकारिता की प्रती उसका साक्षात्कार लेकिन क्या ऐसा स्मरण आता है सत्य शब्द को पढ़ के जब पढ़ोगे सत्यन लभ्य तपसा है आत्मा यह आत्मा सत्य है तप है सम्यक ज्ञान है ब्रह्मचरी है तो क्या तुम्हारे मन में विचार उठते तप से विचार उठता है सिर के बल खड़े हुए लोग उपवास करते हुए लोग सूरज से आग बरस रही और वो अपने चारों तरफ धुनी रमाए बैठे हुए हैं तब से तुम्हें क्या याद आता है कांटों पर लेटे हुए लोग सर्दियों में बर्फीली नदियों में नग्न खड़े लोग की गर्मियों में जलती हुई रेत पर पालथी मारे हुए बैठे हुए लोग जटाजूट धारी शरीर के दुश्मन अपने को गलाने में लगे सड़ाने में लगे इस तरह के आत्महंताओं की याद आती तब शब्द को सुन के याद आती उन लोगों की जो अपने को कष्ट देने में कुशल है दुनिया में दो तरह के हिंसक एक वे जो दूसरों को सताते हैं ये छोटे हिंसक है क्योंकि दूसरे को तुम सताओगे तो दूसरा कम से कम आत्मरक्षा तो कर सकता है प्रति उत्तर तो दे सकता है भाग तो सकता है पैरों पर गिर के गिड़गिड़ा तो सकता है कोई उपाय खोज सकता है रुस्वत दे सकता है चापलूसी कर सकता है सेवा कर सकता है गुलाम हो सकता है और दूसरे तरह के वे आत्महिंसक हैं जो खुद को सताते वहां कोई बचाव नहीं वह हिंसा बड़ी अब तुम खुद ही अपने को सजा बच सजा सताओगे तो कौन तुम्हें बचाएगा कौन प्रतिकार करे अपना ही हाथ अगर आग में जलाना हो तुमने ही अगर तय किया हो आग में जल जाने का तो फिर बचना मुश्किल है आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को कैसे बचाओगे कानून नियम बनाता है मगर बचा पाता है क्या कानून बड़ा मूर्तापूर्ण मालूम पड़ता है कानून कहता है जो आदमी आत्महत्या करेगा उसको सजा मिलेगी अभी बड़े मजे की बात उसने तो आत्महत्या कर ही ली अब तुम क्या खाक सजा दोगे सजा तुम उसको दे सकते हो जो आत्महत्या कर रहा हो और कर न पाया हो और जो आत्महत्या करना चाहता है क्या इस दुनिया में उससे कुछ कमी है इतने सरदार इतनी बसें चला रहे हैं ट्रकें चला रहे हैं देसी ठर्रा पिए हुए ट्रेनें चल रही हैं मालगाड़ियां दौड़ रही हैं झाड़ है पहाड़ है नदी है समुद्र है जिसको आत्महत्या करनी है इस बड़े जगत में कोई उसे बचा सकता है कैसे बचाओगे कोई नहीं बचा सकता हाँ पकड़ा जाता है वह व्यक्ति जो करना नहीं चाहता था यू ही कहा करने का बहाना कर रहा था करने की तरकीब कर रहा था कि उसका कुछ प्रभाव पड़ जाए धमका रहा था स्त्रियां आत्महत्या के बहुत उपाय करती दो चार गोली खा लेंगी नींद मगर इतनी कभी नहीं खाती कि मर जाए इतनी ही खाती है कि तुमको थोड़ी मुसीबत में डाल दें कि डॉक्टर को बुलाओ कि पुलिस से छिपाओ कि अब डरो उनसे कि अब दोबारा तुमने जो भूल की थी अब ना करना अब उनकी मान के चलना ये उनकी तरकीब है ये गांधीवादी तरकीब है अपने को सता के तुम तक कब्जा पाने की तब से तुम्हारे मन में क्या छाल उठता है तब शब्द तुम्हारे भीतर कौन सी आकृतियां उभारता है आत्मदमन आत्मप्रियन लेकिन तप से इसका कोई संबंध नहीं तप का ठीक ठीक अर्थ इतना ही होता है कि जीवन में बहुत दुख है इन दुखों को सहजता से धैर्य से संतोष से अहोभाव से अंगीकार करना और दुख पैदा करने की जरूरत नहीं दुख क्या कुछ कम है पांव पांव पर तो पटे पड़े दुखी दुख तो है चाहो तरफ लेकिन इन दुखों को भी वरदान की तरह स्वीकार करने का नाम तप है सुख को तो कोई भी वरदान समझ लेता है दुख को जो वरदान समझे वह तपस्वी है जब बीमारी आए उसे भी प्रभु की अनुकंपा समझे उससे भी कुछ सीखे जब दुर्दिन आए तो उनमें भी सुदिन की संभावना पाए जब अंधेरी रात हो तब भी सुबह को न भूले अंधेरे से अंधेरी बदली में भी वो जो शुभ्र बिजली कौंध जाती उसका विस्मरण ना हो कुछ दुख आरोपित करने की जरूरत नहीं दुख क्या कम है इसलिए मैं अपने सन्यासी को नहीं कहता कि संसार को छोड़ो जंगल में जाओ अपने को सताओ संसार में कोई दुखों की कमी है कि तुम्हें जंगल जाना पड़े यहाँ तरह तरह के दुख है जीवन चारों तरफ संघर्ष प्रतियोगिता मनस ईर्षा जलन द्वेष इन सब से भरा है एक दुश्मन नहीं हजार दुश्मन जिनको तुम दोस्त कहते हो वो भी दुश्मन कब दुश्मन हो जाएंगे कहना मुश्किल मैकियावेली ने अपनी अद्भुत किताब प्रिंस में लिखा है अपने दोस्तों से भी वह बात मत कहना जो तुम अपने दुश्मनों से न कहना चाहो क्यों क्योंकि तुम्हारा जो आज दोस्त है वो कल दुश्मन हो सकता है मैं केवल ही पश्चिम का चाणक्य दोस्त से भी मत उघाड़ना अपने हृदय को क्योंकि वो भी नाजायज लाभ उठाएगा किसी से फिर तुम पछताओगे यहां तो सब तरफ कांटे ही कांटे हैं अब और कांटों की सैया बनाने की जरूरत क्या है तुम जिस सैया पर सोते हो रोज वह कांटों की नहीं उतने से मन नहीं भरता पत्नी और पति तुम्हें कम दुख दे रहे हैं मैंने सुना पति पत्नी में पति के देर से घर लौटने पर झगड़ा हो रहा था पत्नी बोली अगर आप आइंदा रात नौ बजे के बाद आएंगे तो मैं आपको छोड़कर किसी और से शादी कर लूंगी पति ने कहा तब तो पड़ोस वाले गुप्ता जी से ही कर लेना पत्नी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा गुप्ता जी से ही क्यों पति ने शांति से उत्तर दिया मैं उनसे बदला लेना चाहता हूं यहाँ कुछ कमी है एक दोस्त अपने संगी साथी से कह रहा था बारिश आने वाली है मुझे बड़ा डर लग रहा है मेरी पत्नी बाजार गई हुई उसके मित्र ने कहा इसमें डरने की क्या बात है अरे बारिश कुछ उससे गला तो न देखी कोई मिट्टी की तो बनी नहीं बहुत बारिश आ जाएगी तो किसी दुकान में घुस के खड़ी हो जाएगी मित्र का इसी का तो डर है जिस दुकान में घुस जाती वहीं उधारी करके आ जाती इस जिंदगी में तुम दुख तो देखो कुछ कमी है तब करने कहा जा रहे हो डॉक्टर चंदूलाल से कह रहे थे चंदूलाल यह कोई पुरानी बीमारी जो आपका सुख से नष्ट कर रही चंदूलाल मुंह पे हाथ रख के अपनी पत्नी की तरफ इशारा करके डॉक्टर से बोले जरा धीरे डॉक्टर साहब वह इधर ही खड़ी हुई है एक पुरुष और एक स्त्री पार्क में बैठे बहुत जोर जोर से बातें कर रहे थे अचानक स्त्री उठी और पुरुष को एक चांटा मारकर गुस्से में वहां से चली गई इतने में पास से गुजरने वाले व्यक्ति ने वहां बैठे पुरुष से पूछा वह स्त्री क्या आपकी पत्नी थी इस पर पुरुष ने बड़े तैस में आके जवाब देते हुए कहा और नहीं तो क्या तुम मुझे इतना बेगैरत इंसान समझते हो कि मैं किसी ऐरी गहरी स्त्री से चांटा खा लू कई वर्षों के बाद कॉलेज के दो साथियों की मुलाकात हो गई और बातचीत का सिलसिला हुआ कैसे रहे इतने वर्षों तक कोई खास बात नहीं हुई कॉलेज छोड़ने के फौरन बाद मैंने शादी कर ली थी ये तो बड़ा अच्छा किया नहीं मेरी पत्नी बहुत लड़ाका थी ओह इससे जीवन जहर हो गया होगा नहीं इतना बुरा भी नहीं हुआ दहेज में पांच हजार रूपये मिले थे उससे तो बड़ा फायदा हुआ होगा नहीं उस रकम से मैंने दुकान कर ली लेकिन बिक्री ही नहीं होती थी तब तो बड़ी मुसीबत रही होगी नहीं बुरा भी नहीं हुआ युद्ध काल में दुकान बड़े भाव में बेच दी दस हजार का नकद फायदा हो गया यह बहुत अच्छा किया तुमने नहीं इतना अच्छा भी नहीं हुआ उस रकम से मैंने एक मकान खरीद लिया और मकान में आग लग गई यह तो बड़ी बदकिस्मती रही नहीं इतनी बदकिस्मती भी नहीं रही मेरी पत्नी भी उसमें जल गई यहाँ जिंदगी में क्या कमी है तब का मेरी दृष्टि में एक ही अर्थ है जीवन में कांटे भी हैं फूल भी हैं फूलों का स्वागत तो कोई भी कर लेता है कांटों का भी जो स्वागत कर ले वह तपस्वी है कुछ तुम्हें कांटे ईजाद करने की आवश्यकता नहीं यहाँ दिन भी है और रातें भी कुछ दिए बुझाने की तुम्हें जरूरत नहीं दिन को तो था तुम प्रसन्न हो रात का अंधेरा भी अंगीकार कर लो परितोष का नाम तप है संतोष का नाम तप है तप आत्महिंसा नहीं अपने को सताना नहीं सताना तो हर हाल बुरा है किसी को भी सताओ तुम भी उसमें सम्मिलित हो लेकिन जो भी जीवन में आ जाए सुख हो कि दुख सफलता हो कि विफलता हार मिले कि जीत तुम्हारे भीतर कोई अंतर ही ना पड़े तुम अधिक अकंप बने रहो यह तपश्चर्या है इसलिए तप के लिए किसी हिमालय की गुफा में बैठने की जरूरत नहीं वह तो तप से भागना है हिमालय की गुफा में क्या खाक तप होगा जीवन चुनौती है प्रतिपल और हर चुनौती छिज जाती है कटार की तरह उसे फूल की तरह स्वीकार कर लेना तपश्चर्या है इसलिए ना तो सिर के बल खड़े हो न धुनी रमाओ न भभूत लगाओ न जटाजूट बढ़ाओ न उपवास से मरो इस सब की कोई जरूरत नहीं परमात्मा ने जीवन में सुख और दुख को बिल्कुल समतुल बनाया है जीवन में हर चीज समतुल है नहीं तो अस्तित्व बिखर जाए इसमें संतुलता होनी ही चाहिए जितना सुख उतना दुख जितने रात उतने दिन जितनी सफलताएं उतनी असफलताएं तुम दोनों को संभाव से ले सको तो तप लेकिन तुम्हारी व्याख्याओं ने बड़ी मुश्किल कर दी तुम्हारी व्याख्याओं ने तुम्हें न मालूम क्या क्या सिखा रखा है मेरे हिसाब से तब तो जीवन की सहज साधना है असहज नहीं प्रत्येक वस्तु को जिस दिन तुम आशीष की तरह स्वीकार करने को राजी हो जाओगे अहोभाव से जीवन के लिए भी धन्यवाद दोगे परमात्मा को मृत्यु के लिए भी बस उस दिन जानना कि तुम्हारे भीतर तप का आविर्भाव हुआ है सत्य है अपने स्वयं की शून्यता का मौन का निर्विचार का निर्बीज अवस्था का अनुभव और तप है बाहर जो जीवन फैला है उसे संभाव से देखने की दृष्टि फिर तीसरा शब्द है सम्यक ज्ञान यह शब्द यू तो हिंदू शास्त्रों में पाया जाता है मुंडो को मस्जिद में है बौद्ध शास्त्रों में पाया जाता है जैन शास्त्रों में पाया जाता है लेकिन जैनों ने इस शब्द पर अपनी आधारशिला रखी उन्होंने इसे बहुमूल्य माना है लेकिन अगर जैन पंडित से पूछोगे तो सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है जो ज्ञान जैन शास्त्र में है वो सम्यक ज्ञान जो ज्ञान जैन शास्त्र में नहीं किसी और शास्त्र में है वो असम्यक ज्ञान जैन शास्त्र शास्त्र अजैन शास्त्र कुशास्त्र जैन गुरु गुरु अजैन गुरु कुगुरु जैन मंदिर में बैठी प्रतिमा सुदेव किसी और मंदिर में बैठी प्रतिमा कुदेव इतने अद्भुत शब्द को इतने प्यारे शब्द को ऐसा बिगाड़ा ऐसा गंदा किया सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है ठीक ठीक जानना सम्यक शब्द का अर्थ होता है ठीक जैसा है वैसा जानना एक ही शर्त पूरी करनी जरूरी है जैन होना जरूरी नहीं हिंदू या मुसलमान होना जरूरी नहीं है एक शर्त पूरी करनी जरूरी है और उस शर्त में तुम बड़े चकित होगे तुम्हें जैन होना बौद्ध होना हिंदू होना मुसलमान होना छोड़ना होगा अगर सम्यक ज्ञान को पाना है तो तुम्हें वे सारी धारणाएं छोड़ देनी होंगी जो तुम्हारे ज्ञान को सम्यक नहीं होने देती जब तुम पहले से ही कोई धारणा लेके चलते हो तो तुम उसे कैसे देखोगे जो है तुम तो वही देखोगे जो तुम देखना चाहते हो तुम्हारी आंखों पर तो एक पर्दा है तुम्हारी आंखों में तो एक चित्र रमा है एक चित्र बसा है उसी चित्र के आधार से तुम यथार्थ को देखोगे ऐसा देखना असम्यक ज्ञान अगर कुरान बीच में आ जाए या गीता महावीर या बुद्ध तो तुम जो जानोगे वो असम्यक ज्ञान कोई बीच में ना आए तुम सीधा सीधा जानो जानने की क्षमता तुम्हारी निर्मल हो स्वच्छ हो किसी पूर्व ग्रह से आच्छादित नहीं किसी पूर्व धारणा से भरी नहीं दर्पण की तरह हो जो सामने आया उसे झलका दे जैसा है वैसा झलका दे यू ना कहे कि इस शकल को मैं न दिखाऊंगा क्योंकि ये शकल सुंदर नहीं कहते हैं बाबा तुलसीदास को कृष्ण के मंदिर में ले जाया गया तो उन्होंने झुकने से इंकार कर दिया उन्होंने कहा मैं नहीं झुकूंगा मैं तो धनुर्धारी राम के सामने ही झुकता हूं कहा उन्होंने कृष्ण से तुलसी माथ तब नवे शर्त लगा दी कि ये तुलसीदास का जो माथा है तब झुकेगा धनुष बाण ले हाथ जब हाथ में धनुष बाण लोगे तो ये माथा झुकेगा इसमें छुपे हुए अहंकार को देखते ये माथा भी सशर्त झुकेगा पहले मेरी शर्त पूरी करो तुम्हारे लिए नहीं झुकूंगा मेरी शर्त पूरी होगी तो झुकूंगा और मेरी शर्त है कि धनुष्वाण हाथ लो कृष्ण ने क्या खराबी थी बांसुरी ने क्या बुराई थी धनुष बाण से तो बेहतर ही धनुष बाण से तो ज्यादा विकसित धनुष्वान से तो बहुत प्यारी मगर नहीं अपनी धारणा है और ये कुछ तुलसीदास का ही रोग नहीं ये पीलिया सदी की आंखों पर छाया हुआ है मैं छोटा था जैन घर में मैं पैदा हुआ मेरे संगी साथी तो हिंदू थे उनके साथ में मंदिर जाता तो मेरे उम्र में बड़े जो जैन लड़के थे वो मुझसे कहते माथा मत झुकाना ये अपने भगवान नहीं ये हिंदू मंदिर है ये कोई जैन मंदिर नहीं और जब हिंदू बच्चों के साथ मैं कभी जैन मंदिर पहुंच जाता तो वो कोई भी सिर न झुकाते वो कहते ये नागा बाबा नंग धड़ंग बैठे इनके सामने क्या सिर झुकाना वो हंसी मजाक उड़ाते ये छोटे बच्चों की ही बात होती तो क्षम्य थी बड़े बच्चों में भी कुछ फर्क नहीं उम्र ही ज्यादा है बच्चे वही के वही तुम किसी जैन मुनि को ले जाओ कृष्ण के मंदिर में सिर नहीं झुकाएगा कुदेव के सामने सिर झुके तुम ले जाओ किसी हिंदू सन्यासी को वो महावीर के सामने सिर नहीं झुकाएगा क्योंकि महावीर तो नास्तिक बुद्ध के सामने सिर नहीं झुकाएगा बुद्ध तो भ्रष्ट करने वाले इन्होंने तो देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने तो भ्रष्टाचार के बीज बोए तुम मस्जिद के सामने से गुजरते हो तुम्हारे मन में कभी भाव उठता है कि झुक जाओ कि जाके दो क्षण भीतर आराधना कर लो प्रार्थना कर लो सवाल ही नहीं उठता और झाड़ के नीचे किसी ने पत्थर पर लाल रंग पोत दिया है दो फूल रख दिए एकदम घुटने टेक के हनुमान जी का चाली ससुर मुसलमान को कुछ नहीं होता वहां तुम्हारी अपनी धारणाएं आंखों पर छाई रहती उन्हीं से तुम देखते हो इसलिए कुछ का कुछ देखते हो जो है वैसा ही नहीं देखते दर्पण की तरह जो हो जाए वह सम्यक ज्ञान को उपलब्ध होता है दर्पण का कोई आग्रह नहीं होता निराग्रही होता है दर्पण के सामने सुंदर चेहरे वाला व्यक्ति खड़ा हो तो असुंदर खड़ा हो तो धनुष बांध लिए हुए राम खड़े हो तो और बांसुरी बजाते कृष्ण खड़े हो तो और नग्न महावीर खड़े हो तो कोई भेद ना पड़ेगा दर्पण तीनों को झलकाएगा संभाव से झलकाएगा सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है ठीक ठीक जानना और ठीक ठीक जानने के लिए जरूरी है शास्त्रों से मुक्ति सिद्धांतों से मुक्ति धारणाओं से मुक्ति पूर्वाग्रहों से मुक्ति जब तुम ये सारा कचरा अलग कर दोगे ना हिंदू ना मुसलमान ना ईसाई ना जैन तब तुम सम्यक ज्ञान को उपलब्ध हो सकोगे लेकिन सारी दुनिया अपने अपने कचरे को पकड़े हुए है जोर से पकड़े हुए है मेरा कचरा सोना तुम्हारा सोना कचरा मेरा है इसलिए सोना होना ही चाहिए सम्यक ज्ञान जैसा प्यारा शब्द अपनी सारी गरिमा खोती है और ब्रह्मचर्य से तुम क्या अर्थ लेते हो जब ये शब्द तुम्हारे कान में पड़ता है तो तुम्हारे भीतर क्या अर्थ उमकते हैं तो ब्रह्मचर्य से तुम्हारी धारणाएं बड़ी अजीब मेरे एक मित्र थे लाला सुंदर लाल उनके लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ था लंगोट के पक्के वो ही अधिकतर लोगों का अर्थ लंगोट के पक्के कस के लंगोट बांधा तो ब्रह्मचर्य तुम कितने कस के लंगोट बांध लो इससे कुछ ब्रह्मचर्य नहीं हो जाएगा ब्रह्मचर्य सिर्फ काम वासना का दमन नहीं काम वासना का रूपांतरण और दोनों में जमीन आसमान का भेद जो काम वासना को दबाएगा वो तो रुग्ण हो जाएगा ब्रह्मचरी को तो क्या उपलब्ध होगा वो तो सामान्य नैसर्गिक वासना से भी नीचे गिर जाएगा वो तो और भी विकृत हो जाएगा उसके जीवन में तो हजार तरह की विकृतियां आ जाएंगी हाँ ये भी हो सकता है कि तुम उन विकृतियों को भी पूजा देने लगो विकृतियां भी पूजी जा रही है दबाया अगर तुमने अपनी काम वासना को तो वो उभर के निकलेगी हाँ नए नए ढंग से निकलेगी कि तुम पहचान ना सको नई शक्ल लेगी नए वस्त्र पहनेगी और निकलेगी अभी मुरारजी देसाई ने चार से दिन पहले ही एक वक्तव्य में कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री था और कनाडा गया तो उनकी उम्र करीब तेरासी वर्ष थी तब तेरासी वर्ष की उम्र में भी उनको कनाडा में देखने योग्य चीज क्या अनुभव में आई वो था नाइट क्लब जहाँ कैबरे नृत्य होता स्त्रियां अपने वस्त्र उघाड़ उघाड़ के फेंक देती धीरे धीरे नग्न हो जाती कारण क्या देते हैं वो कि मैं जानना चाहता था कि नाइट क्लब में होता क्या है मगर जान के तुम्हें जरूरत क्या है तेरासी वर्ष की उम्र में तुम्हें ये उत्सुकता क्या <clears throat> कि वहां क्या होता है होने तो इतनी बड़ी दुनिया है इतनी चीजें हो रही कनाडा में और कुछ नहीं हो रहा था सिर्फ नाइट क्लब ही हो रहे थे कनाडा में कुछ और देखने योग न लगा नाइट क्लब और वो भी चोरी से गए चोरी से भी जाने योग्य लगा क्योंकि पता चल जाए कि नाइट क्लब में गए कैबरे नृत्य देखने गए तो बदनामी होगी और मुरारजी देसाई तो महात्मा समझो ऋषि मुनि मगर उन्होंने ये बात अब क्यों कही अब कही उसके पीछे और कारण गुजरात विद्यापीठ के विद्यार्थियों के सामने वो अपने ब्रह्मचरी की घोषणा कर रहे थे उसमें ये बात भी कह गए कि मेरा ब्रह्मचरी वहां भी डिगा मगा नहीं तेरासी वर्ष की उम्र में केवल नृत्य देखने गए ब्रह्मचरी डगा नहीं उनसे ये तो यूं हुआ कि कब्र में कोई पड़ा हो और चारों तक कैबरे नृत्य होता रहे और कब्र में पड़ा हुआ महात्मा गए अरे नाचते रहो मैं अपने ब्रह्मचरी में पक्का लंगोट का पक्का ऐसा कस के लंगोट बांधा है कि क्या तुम मुझे हिलाओगे तो उन्होंने बड़ा रस लेके वर्णन किया है कि जैसे मैं अंदर गया चार सुंदर स्त्रियां जो मुझे पहचान गई क्योंकि अखबारों में उन्होंने तस्वीर देखी होगी आंख एकदम मेरे पास नाचने लगी हाव भाव प्रकट करने लगी मगर मैं भी बिल्कुल संयम साधे नियंत्रण किए अधिक खड़ा रहा अब ये संयम साधना और ये अडिग खड़े होना और ये नियंत्रण को बनाए रखना ये सब किस बात का सबूत है अभी भी वही सब रोग भीतर छाए हुए हैं अभी भी कहीं कुछ भेद नहीं पड़ा नहीं तो नियंत्रण की भी क्या जरूरत थी इतना संयम बांधने की भी क्या जरूरत थी अरे नाचते थी तो नाचने देना था बैठते और प्रसन्न होते अगर नाच अच्छा था तो प्रशंसा करनी थी या कम से कम कुछ न बनता तो थोड़ा नाचते मगर बिल्कुल खड़े रहे अपने को संभाले हुए कि कहीं पैर खिसल ना जाए पैर खिसलने का डर ये विकृतियां हैं फिर आदमी विकृतियों से निकलता है मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने बेटे से फजलू से कहा कि देख गांव में एक गंदी फिल्म लगी हुई अश्लील कभी देखने मत जाना ऐसी गंदे स्थान पर कभी जाना ही मत जाएगा तो बहुत पछताएगा फिर फजलू मुझसे कह रहा था कि मैं गया और बहुत पछताया पिताजी ने ठीक कहा था ये बहुत पछताएगा मैंने कहा हुआ क्या उसने कहा हुआ ये कि पिताजी ने जो कहा था सब ठीक निकला उन्होंने दो बातें कही थी एक तो ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो नहीं देखनी चाहिए और दूसरा की बहुत है दोनों बातें हुई उनका फिर भी मैं समझू कि क्या क्या हुआ मैंने कहा पहली बात तो ये हुई कि पिताजी वहां देखने को मिले उन्होंने कहा था कि ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो नहीं देखनी चाहिए और दूसरा मुझे देखती सुनो मैं पिटाई की तू यहाँ क्यों आया सो बहुत पछताया भी हालांकि पिटते हुए मैंने इतना जरूर पिताजी से पूछा कि आप क्यों यहाँ आए तो उन्होंने कहा मैं तुझे देखने आया कि कहीं फजलू गया तो नहीं है क्या क्या मुझे दुनिया में चलते फजलू को देखने गए थे फिल्म में बैठे हुए लोग फिर बहाने खोजेंगे फिर क्या क्या बहाने नहीं खोजते जैसा ही व्यक्ति दमन करेगा वैसे ही उसके भीतर जो दमित वेग है वो पीछे के दरवाजों से रास्ते बनाने लगेंगे उस व्यक्तित्व के जीवन में दोहरापन पैदा हो जाएगा या अनेकता पैदा हो जाएगी उसके बहुत चेहरे हो जाएंगे वो खंड खंड हो जाएगा कहेगा कुछ करेगा कुछ सोचेगा कुछ सपने कुछ देखेगा उसके जीवन में विकृति ही हो जाएगी उसके जीवन की एकता खंडित हो जाएगी ब्रह्मचरी का यह अर्थ नहीं ब्रह्मचरी शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है ब्रह्म जैसी चर्या ईश्वरीय आचरण दिव्य आचरण दमित व्यक्ति का आचरण दिव्य तो हो ही नहीं सकता अदिव्य हो जाएगा पाश्विक हो जाएगा पशु से भी नीचे गिर जाएगा दिव्य आचरण तो एक ही ढंग से हो सकता है कि तुम्हारे भीतर जो काम की ऊर्जा है वो ध्यान से जुड़ जाए ध्यान और काम तुम्हारे भीतर जब जुड़ते हैं तो ब्रह्मचरी फलित होता है ब्रह्मचरी फूल है ध्यान और काम की ऊर्जा के जुड़ जाने का ध्यान अगर अकेला हो और उसमें काम की ऊर्जा ना हो तो फूल कुमलाया हुआ होगा उसमें शक्ति ना होगी और अगर काम अकेला हो उसमें ध्यान न हो तो वो तुम्हें पतन के गर्त में ले जाएगा काश ये दोनों जुड़ जाएं ध्यान और काम काम है शरीर की शक्ति और ध्यान है आत्मा की शक्ति और जहां ध्यान और काम जुड़े वहां आत्मा और शरीर की शक्ति जुड़ गई फिर तुम इस महान ऊर्जा के आधार पर उस अंतिम यात्रा पर निकल सकते हो जो ब्रह्म की यात्रा है तब तुम्हारे जीवन में ब्रह्मचर्य होगा खंडित व्यक्ति की तो प्रतिभा भी नष्ट हो जाती है इसलिए तो मोरारजी देसाई जैसे लोगों के पास प्रतिभा नाम मात्र को नहीं हो ही नहीं सकती बुद्धि से तो उनकी दुश्मनी हो जाती तुम्हारे तथाकथित महात्माओं को तुम देखो इनके भीतर तुम बुद्धि ना पाओगे इनको तुम बिल्कुल बुद्धू पाओगे मगर ही तुम्हें बुद्धू दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि तुम्हारी धारणा ये है कि देखो उपवास कर रहे हैं अब उपवास बुद्धि का क्या संबंध बुद्धिमान आदमी उपवास करेगा ही क्यों जितनी जरूरत होगी उतना भोजन करेगा न ज्यादा भोजन करेगा न कम भोजन करेगा बुद्धिमान आदमी तो हमेशा समता से जिएगा शरीर की जरूरत हो उतना भोजन देगा ज्यादा नहीं देगा क्योंकि ज्यादा शरीर पर बोझ होता है कम भी नहीं देगा क्योंकि कम शरीर की हत्या करना है बुद्धिमान व्यक्ति उतना देगा जितना आवश्यक हो उतना सोएगा जितना आवश्यक है उतना श्रम करेगा जितना आवश्यक है ये तो बुद्धुओं के लक्षण या तो कम खाएंगे या ज्यादा खाएंगे या तो कम सोएंगे या ज्यादा सोएंगे या तो कम श्रम करेंगे या ज्यादा श्रम करेंगे कभी मध्य में ना हो पाएंगे गांव में एक प्रसिद्ध नेताजी का भाषण होने वाला था वे सभा स्थल पर पहुंचे तो देखा वहां सिर्फ एक ही श्रोता बैठा था नेताजी ने उससे पूछा अब क्या करना चाहिए जैसा आप ठीक समझे उसने उत्तर दिया मैं एक मामूली किसान और ये जानता हूं कि जब मैं 20 गायों को चारा डालने जाता हूं और यदि वहां सिर्फ एक गाय भी हो तो मैं उसे बिना चारा दिए लौट नहीं आता उसके उत्तर से प्रभावित हो नेताजी ने भाषण दिया एक घंटे बाद जब उनका धुआंधार भाषण समाप्त हुआ तो नेताजी ने ग्रामीण से पूछा कहो भाई कैसा रहा बहुत सुंदर किसान बोला लेकिन मैं तो एक मामूली किसान हूँ और सिर्फ ये जानता हूँ कि 20 गायों की जगह मुझे यदि एक गाय मिले तो मुझे उसको सबका चारा नहीं खिला देना चाहिए और आपने यही किया कि गाय तो एक और बीस गायों का चारा मुझे को गरीब मुझ गरीब को खिला दिए बस भागी भागी तेरी तरह की कब भागू मगर अकेला हूं भाग भी नहीं सकता अब आपकी आंखें भी मुझी पे गड़ी हुई कई बहाने खोजे मगर कोई बहाना हाथ ना आए अच्छा भी ना लगे कि अब अकेले आदमी मैं ही भाग जाऊं तो फिर भाषण कैसे चलेगा और नेताजी क्या सोचेंगे बुरा इनके मन को न लग जाए मगर इतना कहता हूँ कि आगे जरा ख्याल रखें जब गाय एक हो तो बीस गाय का घास उसके सामने न डालें एक साधारण किसान में भी ज्यादा बुद्धि होती तुम्हारे नेताओं से फिर चाहे वे नेता धार्मिक हों और चाहे राजनीतिक कुछ भेद नहीं है उनमें तुम उनको नेता ही किस लिए कहते तुम्हारे नेता कहने के भी कारण बड़े अजीब होते हैं कोई चरखा चलाता है हाथ की बनाई हुई खादी पहनता नेता हो गया कोई उपवास करता है दो तीन घंटे शीर्षासन करता है महात्मा हो गया इसमें बुद्धिमत्ता का कहीं भी कोई संबंध है चरखा चलाने में कोई बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत है थोड़ी बहुत पहले रही भी हो तो चरखा चलाते चलाते नष्ट हो जाएगी चरखा चलाओगे चरखई हो जाओ बस खोपड़ी में वही चरखा घूमता रहेगा और कुछ तो और भी पहुंचे हुए तकली चला रहे बैठे बैठे तकली ही घुमाते रहते तुम जिनको धार्मिक कहते हो जिनको तुम महात्मा कहते हो कभी सोचो भी इनके भीतर कहीं भी कोई प्रतिभा का लक्षण दिखाई पड़ता है कोई मेधा दिखाई पड़ती है और अगर मेधा ही